प्राणेश सही समय घर में है पट्टिया बंधी है घावों पर रण से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर यह सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा सब तन आहत होने पर भी दस कंडर भुज स्थल फड़क उठा बोला मूर्खों ने बुरा किया मूर्छित था तो जग जाता मैं मरता तो उनसे ही मरता या उन्हें मार कर आता मैं चुप रहा न गया भामिनी से बोले यह आन छोड़िए अब प्राणों पर आए प्राणेश्वर अपना अभिमान छोड़िए अब बालक तुम कहते थे जिन्हें वे हैं अति बलवान सेवक हैं जिनके प्रबल अंगदारी हनुमान उनसे लड़कर हे प्राणनाथ जय कभी नहीं तुम पाओगे कहता है मेरा दक्षिणांग तुम विधवा मुझे बनाओगे जिस दिन से सीता आई है आ गया शीत निश्चर गण में जान के जान के लेवा है यह नहीं सोचते तुम रण में लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित सामर्थ नहीं यह नर के है उन तपस्वियों के चेलों में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है अतएव मांगती हूँ हे पति पत आज मांग की रखो तुम उसको जिसके हो नाथ तुम्हें मत अनाथ ने होने दो तुम बत बढ़ाओ नरार पिया तुम उनसे रण में बढ़ाओ नरार पिया तुम उनसे रण में जगाओ न सोते हुए सिंहों को वन में उनमें है वीरता रण धर्म पे भिड़ जाने की तुम पे हीनता पर नार के चुराने की पल्ला हल्का है जिधर जयन उधर जाने की इसलिए बात बनी रहने दो घराने की लगाओ न कटेली बाण भवन में उगेंगे सूल चमन में घुसेंगे गैरवतन में विचार लो मन में बढ़ाओ नरार पिया तुम उनसे रण में जगाओ न सोते हुए सिंहों को वन में बढ़ाओ नरार पिया तुम उनसे रन भी नारे के यह बात सुन तड़प उठा बीमार चट चट चट के बंद सब वही रुधिर की धार बोला चल हट कायर नारे मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ फिर पीछे कभी नहीं हटता जब आगे को पग धरता हूँ क्यों उनके गुण तो गाते हैं क्या मैं इससे डर जाऊंगा बस प्रात काल ही निर्णय है मारूंगा या मर जाऊंगा यदि वे ईश्वर के अवतारी हैं तो सफल सभी न अनबल होंगी रणभूमि से जो होगी मेरी और मोक्ष महादुल्हन होगी परमात्मा उन्हें मान कर भे क्यों बातें करते है हल्के मेरे खातिर वह खुद आए यह महिमा है मेरे बल की अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत बोला मेरे इन चरणों पर सारा भूमंडल झुकता है बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है तो मुझे जानती है इतना केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ बावली तुझे यह खबर नहीं मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ जिधर भी देखता हूँ मैं ही मैं हूँ जिधर भी देखता हूँ मैं ही मैं हूँ जरा जब सोचता हूँ मैं ही मैं हूँ नहीं रे सिवा है और कोई कि मैं यह बोलता हूँ मैं ही मैं हूँ पराजय में विजय में घर मेरण में जहाँ भी भासता हूँ मैं ही मैं हूँ मैं ही मैं हूँ कहे तो चाहे इसको खुद परस्ते मगर मैं जानता हूँ मैं ही मैं हूँ मैं ही मैं हूँ सुना है ईश्वर है वस्तु को ये जब उस खो खोजता हूँ मैं ही मैं हूँ मैं ही मैं हूँ जिधर भी देखता हूँ मैं ही मैं हूँ मैं ही मैं हूँ मैं ही मैं हूँ मैं ही मैं हूँ मूर्ख और विद्वान के कब पटती है बात इसे भात मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात यह कहकर रावण उठा छोड़ नारी का ध्यान अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान था जैसा दृश्य युद्ध का कल फिर आज वही दर्शाया है श्री राम और रावण कारण पूरा किसने कह पाया है वही दल बल वही हलचल वही मुठभेड़ झटों की थी निस्दिन के नाहे श्याम श्वेत वही रंगत वीरों की थी वरण मंडल नभ मंडल था नक्षत्रों सा निश्चर दल था जिस रथ पर राम भानु प्रगटे वह रथ मानो उदयाचल था रवि के प्रकाश से अंधकार क्रमशः जो हटता जाता था जो ही राम बाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे पिटने निपुते माओ के पत्थर पिघलाए देते थे सारांश लड़ाई कई दिनों घमसान घोर अत्यंत हुए कितने माही के लाल मरे कितने न अंत पर्यंत हुए एक दिवस यति कुपित हो उठे कौशलाधीश काट दिए दस शीस के क्षण भर में दस शीस पर उसी समय सबने देखा नूतन सिर प्रकट हुए उसके सिर थे या जादू के पुतले कट कर फिर प्रकट हुए उसके घंटों तक होता रहा यही सुरवानर सब घबराते हैं रघुनायक काटत जाते हैं सिर नए निकलते आते हैं थके काटते काटते कटान कोई शीश देख विभीषण को हसे तभी कौशलाधीश भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया सोचा खोलूंगा भेद नहीं इसमें ही आज भलाई है कैसा ही भला बुरा है पर आखिर तो मेरा भाई है इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार उधर दसानन के उठा मन में एक विचार मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण है पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा फिर तपते तो किस गिनती में है ब्रह्मा तक मार न पाएगा छोड़ा भाई के तरफ शक्ति बाण तत्काल तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल ठिठक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्मस्थान इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में सोचा यह भाई वैरी है इसको मरवा दूंगा रण में दगले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दसमाथ तिर बढ़ने की चिंता न करे यह छाया मृत्युंजय की है इसको जो जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है पुष्पों के जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापिस पाए हैं यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाए तो सिर के बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाए फिर अमृत नाभि में है इसके वही जीवित रखता खल को इसलिए छे छोड़िए सर से सुखे जो इसके उस बल को वेद विश्वीषण भक्त से सुनकर भले प्रकार प्रभु ने कर शिव बंधना फिर से किया पार चले मंत प्रेरित जभे प्रभु के बाण महान अमृत सुखाया नाभ के छुड़ा दिया शिव ध्यान एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीश तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने मैं भी कैसा मत वाला था जो भाई को त्यागा मैंने भाई भाई ही था आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता आप भलाई थी हाँ मैंने उल्टी सभा बीच उसके ही लात लगाई थी हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न घोरव प्राप्त हुआ यह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ भुजा अठारह शीश नौ काट चुके अवधीश गिरा तभी रणभूमि में होकर असक्त लंकेश मरते मरते भी हुआ उसे तनिक साथीत आंखें खोली सामने देखे कृपा की मानो जीवन मरण वह करने लगा पवित्र तब प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र